परम प्रिय पिता पूज्य सतगुरु श्री प्रताप सिंह जी महाराज की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम सब इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं सतगुरु प्रताप सिंह जी महाराज जी के जीवन हम सब के लिए सारे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण और सुंदर उपहार रहा है इस सुंदर उपहार का आशीर्वाद लेने के लिए और उनके जीवन को मनाने के लिए हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम पूज्य महाराज जी सतगुरु श्री जगजीत सिंह जी के आशीर्वाद और नामधारी संगत के श्रद्धा और प्रेम से पेश किया जा रहा है परम पिता प्रताप सिंह जी के जीवन को मनाने में केवल शास्त्रीय संगीत ही उनके प्रेम और भक्ति के ऊंचाई तक हमें पहुंचा सकता है सतगुरु जी प्रताप सिंह जी का संगीत उनकी आत्मा से जुड़ा उच्च कोटि का संगीत था जब वो दिलरुबा लेते या अपनी मधुर वाणी से स्वरों को छूते तो सुनने वाले मुग्ध हो जाता हो जाया करते थे सन 1928 में उन्होंने श्री भेनी साहब में शास्त्रीय संगीत ज्ञान भवन की स्थापना की इस संस्था ने इस संस्था से अव्वल दर्जे के संगीतकार जुड़े और उनके शिष्यों ने सतगुरु प्रताप सिंह जी ने सतगुरु जगजीत सिंह जी और अपने अनेक संगीत के गुरुजनों का नाम रोशन किया सतगुरु प्रताप सिंह जी से जब पूछा गया कि राग क्या है उन्होंने जवाब दिया राग प्रेम है उन्होंने ताल का ताल को जो अहम माना और मानते हुए पहली ताल पेटी जो पेश की जिसके द्वारा शिष्यों ने ताल ज्ञान को और ध्यान से समझा ताली खाली सम बोल और सारे ताल अंग जाने सतगुरु प्रताप सिंह जी ने अपनी सुपुत्र सतगुरु जगजीत सिंह जी को साढ़े चार साल की उम्र से संगीत का ज्ञान दिया उन्होंने अमृतसर के भाई हरनाम सिंह जी से भी ज्ञान प्राप्त किया सतगुरु जी जगजीत सिंह ने हम सबको संगीत द्वारा भक्ति और प्रेम तक पहुंचाने में पहुंचाने की राह दिखाई है अपने पूज्य पिताजी सदगुरु प्रताप सिंह जी के सम्मान में अनेक संगीत सम्मेलन रचाए हैं और आज विश्व के बड़े संगीतकार पंडित जन और उस्ताद उन्हें पूछते हैं और नामधारी संगत को सम्मान देते हैं सतगुरु जी श्री जगजीत सिंह जी महाराज की आज्ञा और आशीर्वाद लेते हुए हम आज के इन गुणी संगीतकारों के सम्मेलन को शुभ आरंभ करते हैं श्री किरण पाल जी और श्री सुरजीत सिंह जी श्री किरण पाल जी संतूर वादक संतूर या शततंत्री वीणा एक ऐसा साज है जो कि और देशों का साजों में भी उनसे मिलता जुलता है जैसे कि ईरान का सैंतूर और जैसे कि संतूर कश्मीर की वादियों में बढ़ा वैसे ही किरणपाल जी के गुरुजी पंडित शिव कुमार शर्मा भी कश्मीर से ही हैं सदगुरु जगजीत जगजीत सिंह के आशीर्वाद से किरण पाल जी ने बॉम्बे में संतूर सीखा और आज आप एक बहुत बड़े यूके के आर्टिस्ट हैं उनके साथ सुरजीत सिंह जी बजाएंगे सारंगी सुरजीत सिंह जी ने सारंगी कुछ पंद्रह साल की उम्र से शुरू की श्री सतगुरु जी के आशीर्वाद से आपने श्री गुरुदेव जी गुरुदेव सिंह जी से और उस्ताद हरभजन सिंह जी से ज्ञान लिया और दिलरुमा में भी शिक्षा ली इनकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी देखते हुए सदगुरु जी ने इनको पंडित वादक पंडित राम नारायण जी से भी उनका भी शागिर्द बनाया और इन्होंने पंडित हनुमान प्रसाद मिश्रा जी से भी सीखा और बहुत संगीत सम्मेलनों में हिस्सा लिया है और बहुत बड़े बड़े कलाकारों की संगत की है और बहुत श्रद्धा से अच्छे शागिर्द बनने की कोशिश की है सुरजीत सिंह जी और किरण पाल जी करेंगे चरणजीव सिंह जी